भरोसे के लिए तारीफ और मजबूती के लिए तालियां हर यामाहा में पाई हैं लेकिन यामाहा की नई ब्लू कोर टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा किया कि इस यामाहा को सब सलूट करेंगे नई यामाहा 125 सीसी सलूटो अठहत्तर की एम्पियर की माइलेज के साथ माइलेज तुझे सलाम यस यामाहा